कुछ नहीं जानना अर्थात पूरे की परिभाषा में थोड़ा सा बहुत आगे बढ़ना पड़ता है ऐसा ज्ञान भी होता है इतना तो पता चल गया ना है <laughs> जी ऐसे ज्ञान की स्थिति ऐसी भी रहती है और जिस विषय में हम पदार्थ का प्रयोग अच्छी तरह से करना सीख लें यद्यपि उस विषय में हम उसके प्रयोगों से लाभ उठा रहे हैं पर पूरा ज्ञान वो भी नहीं होता हमारा एक में तो इतना कम ज्ञान है कि उससे हम विशेष लाभ नहीं उठा पा रहे कुछ ज्ञान है अंत इतना पड़ेगा एक पदार्थ का हमको इतना ज्ञान है उसे पूरा लाभ उठा लेते कुछ तो समझ में आया दोनों ज्ञानों की स्थितियों में अंतर है तो आप सुन रहे थे कि विद्या को कैसे सुरक्षित रखा जाता है और उसके माध्यम से अविद्या का विनाश निराकरण कैसे किया जाता है ये प्रक्रिया पद्धति अब जो व्यक्ति इस रीति को पद्धति को नहीं जानता वह अविद्या का नाश नहीं कर सकता और विद्या की प्राप्ति भी नहीं कर सकता ये और पद्धति है ही नहीं कोई दूसरा ढंग कोई ऐसा हो विद्या हटाई जा सके विद्या लाई जा सके ऐसा कोई प्रकार नहीं है उसको बाहर के जो मैंने आवश्यक कार्य बताए थे वो करने पड़ेंगे पढ़ना पड़ेगा बार बार पढ़ाना पड़ेगा और सुनना सुनाना पड़ेगा मंथन करना पड़ेगा फिर के प्रयोग करने पड़ेंगे और विवेक वैराग्य को बनाया रखना पड़ेगा और यम नियमों का पालन भी करना पड़ेगा आगे बढ़ जाइए उसको सतत ईश्वर के सानिध्य में रहना पड़ेगा यदि किंचित यदि ईश्वर से इधर उधर होता है तो अविद्या उत्पन्न हो जाएगी वैसा कठिन प्रतीत होता है आपको है जी स्वामी जी ये पद सरल प्रतीत होता है के अविद्या में भटकना हम्म ये पद कुछ सरल लगता है सतत ईश्वर के साथ जुड़े रहो हम्म। ये थोड़ा सा सरल लगता है इस दृष्टि से लगता है उसका व्यवहारिक रूप जो देंगे ना जब पता चलेगा आपको भाषा में शब्द प्रमाण को लेते हुए सरल दिखता है इसके लिए कितना ज्ञान विज्ञान उसको करना पड़ता है कितने दिनों तक करना पड़ता है कितना यम नियम का पालन करना पड़ता है तीन रेशनाओं से टकराना पड़ता है इतनी विद्या पढ़नी पड़ती है आत्मा परमात्मा इंद्रियों के विषय में जानना पड़ता है फिर ये संसार के सुखों में चार प्रकार का दुख है इसका निर्णय करना पड़ता है और इस स्थिति में वो संसार उसको पागल कहेगा मूर्ख कहेगा वो सारा टक्कर मीठा मधुर व्यवहार उसको बना के रखना पड़ता है नहीं तो जब थोड़ा सा गंभीर होगा तभी लोग कहेंगे एक पागल कहीं पागल है इसके दिमाग में खराबी आ गई है सारे दिन आंख बंद करे, करे बैठा रहता है अब उसे डरता है वो पागल कहलवाने से बहुत डरता है वो वो इससे नहीं डरता मेरा संबंध ईश्वर से कट जाएगा इससे नहीं डरता कट जाए और पागल मुझे कोई नहीं कहे ये मैं नहीं सह सकता अब बताओ संबंध में तो आ रहा कम से कम है जब ऐसी स्थिति उत्पन्न की जाएगी आपकी आंखें कैसी रहेंगी बोलचाल की भाषा कैसी रहेगी खाना पीना कैसे रहेगा हंसना बोलना कैसे रहेगा आपके कैसे उठ, उठना बैठना लेना देना कैसे होगा आपके यमनियमों का पालन व्यवहार में कैसा होगा संसार के लोग छल कपट का प्रयोग भी करेंगे आपके साथ में संसार के लोग आपकी हानि भी करेंगे मिथ्या आरोप भी लगाएंगे उस स्थिति में क्या आप प्रसन्नता पूर्वक जमे रहेंगे इसलिए इसको तलवार की धार कहते हैं साधक जी थोड़े से ढीले पड़ जाए तो खूब क्रोध आ जाता है वेद मुनि जी थोड़े से ढीले पड़े तो तब आग में बुला हो जाएंगे अब बताओ ये तो नाम इसलिए लिया इनको थोड़ा सा चोट लगे नाम लेने से थोड़ा सा अधिक ध्यान देगा या दुखी हो जाएगा <laughs> या तो दुखी होगा देखो मेरा नाम लिया है या कहेगा बहुत अच्छा किया मेरे ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ा मेरा नाम लेके दोष बताया बहुत अच्छा किया एक दिन आत्मदेव जी के मैं दोष बताता रहता हूँ और ये सुनते ही नहीं पत्थर की लकीर जैसे बैठे रहते हैं इनको मैं बहुत कहता हूं कहते कहते एक दिन ये सुना रहे थे आप स्वामी जी अधिक कहेंगे तो मैं और बिगड़ जाऊंगा तो स्वामी जी को दोष कहने से कैसे रोका जाए इन्होंने को पाए ढूंढा नहीं समझे आप नहीं आ समझ में स्वामी जी मेरे दोषों को न कहें इससे रोका कैसे जाए इनको इन्होंने सोचा ऐसे कहना चाहिए स्वामी जी अधिक कहोगे तो मैं और बिगड़ जाऊंगा इसका मतलब मैं इनके दोषों को न बताऊं ये उपाय ढूंढा इन्होंने <laughs> क्यों साधक जी ठीक है ये उपाय ढूंढ डाला उन्होंने ये आज कल के अध कचरे वैज्ञानिकों का संविधान है अधिक कहने से बिगड़ता अठी दुरा दुराग्रही अभिमानी कुसंस्कारों वाला स्वार्थी व्यक्ति अधिक कहने से बिगड़ता है उल्टा अठी उल्टा अड़ियल बन जाता है अठी दुराग्रही कुसंस्कारों वाला अयोग्य व्यक्ति योग्य व्यक्ति जो है जो अच्छा व्यक्ति जो है जिसमें मानवता है वो अधिक दुखों के दुखों करने से सुधरता जाता है आगे बढ़ जाइए वो यहां तक पहुंचता है कई बार उसमें दोष नहीं है तो भी कहे जा रहे हैं तो भी आनंद से सुनता है ये सीमा देख लीजिए आप कहा अच्छे व्यक्ति का लक्षण ये अब आप आत्मनिरीक्षण कर लो आप कैसे हो नहीं नहीं आया समझ में कैसे हो आप हुँ? हम्म? ये स्थिति जो बताई जा रही ऐसे है या नहीं आप नहीं कुछ सीमा तक आप भी कभी सोचते हो गए तो अधिक बताने से व्यक्ति बिगड़ता है कभी की सोचते हो गए मनोविज्ञान पढ़ा होगा आधुनिक लोगों का ऐसे नहीं सोचते समझिए जी कोई दोष बताए तो उसको स्वीकार करते हैं हाँ। बुरा नहीं मानते बहुवचन में क्यों बोलते हो बोल तो सकते हैं है? फिर ऐसा कोई संदेह में नहीं पड़ जाएगी सारे के लिए कह रहे <laughs> तो फिर से सुनिए वो जो अच्छा व्यक्ति है जैसे आया सत्य के ग्रहण करने असत्य के छोड़ने में उद्यत रहता है वो व्यक्ति ऐसा है कभी भी कहो कहीं भी कहो वो उद्यत रहता है और आगे चल करके जब उसके दोष नहीं होते कई बार फिर भी उसके दोष कहे जा रहे हों तो भी वो दुखी कभी नहीं होता और उसमें दुखी होना भी दोष युक्त है अच्छा नहीं है क्यों जो कहने वाला व्यक्ति वह स्वतंत्र है और कहने वाला व्यक्ति का ज्ञान भी तो थोड़ा है वो हमारे अंदर दोष नहीं है और उनको वो दोष समझ में आ रहे हैं हम जानते हैं ये बेचारा बिना समझे बोल रहा है दोषों को तो नहीं देख रहा है पर इसके दिमाग में दोष बैठे हुए हैं ये बोल रहा है बोल रहा है तो कि भाई इसके कहने से मैं दुखी क्यों हूं नहीं समझ में आया कुछ समझ में नहीं आया ऐसे प्रयोग करते रहना पड़ता है कितने लंबे काल तक ये प्रयोग करने पड़ते यदि आप ऐसा मानते हैं मानेंगे समझे सोचेंगे ऐसी शैली में अपने जीवन को ले चलेंगे तो पता चल जाएगा आपको कि वास्तव में शुद्ध है जीवन पवित्र जीवन और दुख रहित सुख की अवस्था क्या है वो समझ में आ जाएगी नहीं तो नहीं आएगी आगे बढ़ता जाता है व्यक्ति और आगे सोचता जाता है आगे पढ़ता पढ़ाता जाता है और योगाभ्यास करता जाता है विवेक वैराग्य को उत्पन्न करके उसको प्रगतिशील रखता है ढीला नहीं होने देता है और देखता रहता है कि मेरे अंदर अपवित्रता कहाँ है उसको अपवित्रता दिखती रहती है और अपवित्रता को हटाता है वो फिर वो दिखती रहती है फिर हटाता है वो अब वो लगा ही रहता है लगा ही रहता है आत्मा मन इंद्रिया शरीर में ढेर का ढेर वो आगे बढ़ता जाता है ऐसे देखता जाता है इस स्थिति वाला व्यक्ति ठीक अपने आप को शुद्ध कर सकता है नितांत सभी विषयों से मन को रोक देना ये स्थिति पकड़ में आई प्रयोग न हुआ हो अथवा समझ में तो आ गई या नहीं आई हाँ जी साधक जी बोलिए प्रयोग में आना एक भिन्न स्थिति है और बुद्धि में शब्द प्रमाण से बैठ जाना एक भिन्न स्थिति है इसको सिद्ध करना पड़ता है हमको इसके बिना जो स्थिति का मैंने वर्णन किया वो नहीं हो सकता या नहीं समझ में आया आपको इसकी सिद्धि के बिना हम उस स्थिति में नहीं जा सकते इसकी सिद्धि करनी पड़ेगी ये अलग बात है कि बहुत आगे चल के हो बहुत समाधि का अभ्यास होने पर हो ये तो हो सकता है पर उसको करना ही पड़ता है बहुत आगे चल के हो ये स्थिति जिसमें नितांत समस्त विषयों से रोक दिया जाता है मन को अपने स्वरूप से भी रोक दिया जाता अपने स्वरूप का भी मंथन नहीं करना ईश्वर के साथ भी अपना संबंध नहीं जोड़ना कुछ समझ में आया नहीं आया आ गया फिर ऐसी स्थिति बना करके पर जहां जाना है जिसकी उपासना करनी है उसकी उपासना करना जो कुछ पढ़ना है या किसी में एकाग्र चित्त करना है या जप करना जो भी कुछ करना है वो फिर अधिकार पूर्वक वहां करता है और वहां चलते चलते यदि असावधानी होगी तो फिर भला जैसे <laughs> जिस विषय को नहीं चाहिए उसको छू लेगा वो कुछ समझ में बात नहीं आई ऐसी स्थिति बनाई और फिर एक विषय में लगाया और फिर वो व्यक्ति थोड़ा सा असावधान हो गया तो वो स्थिति भंग हो जाएगी एक नया व्यासी व्यक्ति जब ये प्रयोग करता है तो उसने एक स्थिति बनाई स्थिति बनाई एक में लगाया एक में जब लग रहा है एकाग्र चित्त की स्थिति है थोड़ा सा असावधान हुआ वो एकाग्रता भंग हो जाएगी विक्षेप आ जाएगा आप ऐसा देख सकते हैं एक नया व्यक्ति है अभी इस स्थिति को उसने प्रारंभ में अनुभव करके देखा और वो नितांत रोग के एक विषय बना के चला अब उसमें थोड़ी सी असावधानी हुई तो थोड़ी सी असावधानी होते ही फिर मन की स्थिति किसी भी विषय में असावधानी जो फिर लगा देता जैसे मैं उदाहरण देता हूं उसने नितांत रोका सभी विषयों से और फिर वो ओम सच्चिदानंद है इस पर लगा दिया उसने ओम सच्चिदानंद है हे ईश्वर आप सत सदा रहने वाले चेत चेतन ज्ञानी हैं आनंद स्वरूप ऐसा जमाया उसने थोड़ी सी सावधानी होती ये स्त्री बिगड़ जाएगी या नहीं होता ऐसा क्या समझ में आया आपको थोड़ी सी असावधानी होती है स्थिति बिगड़ेगी तो क्या करते हैं फिर हम बिगड़ी स्थिति इसकी दो स्थितियां उसी में लगा दिया ईश्वर में ले आए स्थिति के बिगड़ी को हटा करके ईश्वर में अथवा अथवा दूसरा विकल्प अथवा फिर अपनी स्थिति में चले गए किसी विषय में नहीं लगाना समझ में आया नहीं आया उस स्थिति में गए किसी में नहीं लगाना और किसी में नहीं लगाने को करके फिर ईश्वर में लगा दिया ओम सच्चिदानंद का जप होने लगा ये प्रयोग ज्यो के त्यों सुनाए जा रहे हैं आप जैसे होते हैं अब इसको बनाया रखने के लिए उसको कितने प्रकार का ज्ञान चाहिए कितना अभ्यास चाहिए उस व्यक्ति को वो ये भी ध्यान रखेगा कि वास्तव में मन को मैं चलाता हूं क्या समझे आप ये ज्ञान काम करेगा वहां यदि ये ज्ञान काम ने करे तो स्थिति मन स्थिति में क्या परिवर्तन होगा चाहे जो विषय उठ सकता है क्या समझ में आया कुछ सब पकड़ में आया मन के ऊपर ज्यादा ध्यान ना रखे तो चाहे जो चाहे जो विषय उठ सकता है जिसको चाहते नहीं है वो भी उठ सकता है ऐसे बिजली बिजली जैसे चलती है ऐसे चलता है और उसको ये भी ध्यान रखना पड़ता है यदि मैं संसार की ओर मन गया तो राग द्वेष उत्पन्न हो जाएगा इसका ध्यान रखना पड़ता है थोड़ी सी सावधानी हुई तो राग या द्वेष उत्पन्न हो जाएगा ये भी ध्यान रखना पड़ता है उसको फिर ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि राग उत्पन्न होते ही मैं उसमें झट परिणाम दुख ताप दुख संस्कार दुख आदि देखूंगा तो रुकने की सर, रुकने में सरलता होगी यदि न देखूंगा तो फिर मुझे घसीच ले जाएगा वो <laughs> क्या समझ में आया राग उभरा लौकिक सुख की ओर उभरा और वो यदि इस बात का परिजान न रखे कि उसमें परिणाम दुख ताप दुख संस्कार दुख गुण प्रति विरोध दुख है यदि ये ध्यान न रखा जाए वहां तो उसको सुख दिखाई देगा नहीं समझे मेरी बात तो सुख दिखाई देने में बड़ा भारी जोर लगाना पड़ेगा उसको रोकने बहुत बल लगाना पड़ेगा उसको नहीं तो नहीं रुकेगा यदि वो दुख देखेगा तो इतना जोर नहीं लगाना पड़ेगा यदि दुख देखेगा तो इतना जोर नहीं लगाना पड़ेगा फिर संसार के विषयों की ओर जो वो मन की स्थिति मुड़ती है मोड़ खाती है तो उसको इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है ईश्वर सर्वव्यापक है वो देखता है कि मन के अंदर विषय आए जो भी विषय आएगा कोई भी ईश्वर जी प्रकृति आएगा तो वो तत्काल इस ज्ञान का प्रयोग करेगा ईश्वर प्रकृति के बाहर भीतर दोनों विद्यमान जीवात्मा जहाँ है नहीं है वहां भी ईश्वर विद्यमान पूरी सृष्टि जहाँ ईश्वर वहां विद्यमान नहीं है वहां भी विद्यमान तो ऐसा ज्ञान विज्ञान काम करेगा तो रोकने में सफलता हो जाएगी ऐसा नहीं होगा तो बड़ी कठिनाई होगी अब और जिस समय वो ईश्वर से अपना संबंध जोड़ता रहता है और सुख की अनुभूति करता रहता है ईश्वर से संबंध जोड़ के वो सुख की अनुभूति उसको याद रहती है और सुख की अनुभूति क्या है कि ईश्वर के साथ मैं जुड़ा रहता हूं तो मुझे सुख मिलता रहता है अविद्या उभरती नहीं है अधर्म भी उभरता नहीं है तो उसका प्रयोग क्यों नहीं किया जाए नहीं समझा आप वो ईश्वर के साथ जोड़ देता अपने आप को तो ईश्वर के साथ जोड़ लेना था मन के रोकने में अपने आप को वहां जमाया रहने में स्थिति ठीक समझ में आ जाती है जम जाती है नहीं तो बड़ा कठिन होगा अब विराम और इसको कितना समझ पाए कितना आप समझते हैं कितना प्रयोग करते हैं उसको सोचो सम्मान्य विद्वजन बंधुओं अपने जीवन को सफल बनाने के लिए क्या कुछ हमको करना चाहिए यदि थोड़े वाक्यों में बात कही जाए तो व्यक्ति चार विभागों को सुधारता रहता है चार विभागों में पदार्थ मात्र को विभाजित करके वह उन्हीं में अपने आप को निपुण बनाने की बात सोचता है अर्थात एक दुख दूसरा दुख का कारण और एक सुख और चौथा सुख का कारण में विभाजित करता रहता है हम एक विभाग बनाए कि ये जो हमारे लिए सुख के साधन हैं अथवा सुख गुण वाले हैं ऐसा सोचते हैं तो हम एक परिणाम पर पहुंचते हैं ईश्वर सुख वाला भी है और सुख का साधन भी है क्या समझे वेद मुनि जी हमारे हमारे लिए भी चलो लिख लो आप लिख रहे थे साधक जी बोलेंगे हम इस परिणाम पर पहुंचेंगे पदार्थ सुख वाले हैं हाँ और सुख के साधन वाले हैं उनमें ईश्वर भी सुख स्वरूप वाला है हम्म। हाँ जी आप बोलो जितने समस्त सुख देने वाले पदार्थ संसार में हैं हम्म। उन सब में ईश्वर ही सुख देने वाला विशुद्ध रूप से पदार्थ है नहीं कुछ भाव इधर उधर चला गया क्या आपने बताया ना स्वामी जी जो सुख के साधन हैं सुख गुण वाले ऐसा सोचते हैं तो परिणाम निकलेगा कि ईश्वर सुख वाला है और सुख का साधन भी है आप तो ये कहना चाहिए ना ईश्वर सुखवान भी है और सुख का साधन भी है एक विज्ञान में ये बात निकली जीव आत्मा में उसमें अंतर करो क्या अंतर करोगे जीवात्मा स्वयं सुख वाला नहीं है एक बात और सुख हाँ, का सुख का भोगता है साधन नहीं है साधन क्यों नहीं है <laughs> जैसे हम ये सोचने लगे कि जीवात्मा अपने लिए सुखप्रद है या नहीं यदि अच्छे काम करे तो तो क्या सिद्ध हुआ इस रूप में जीवात्मा सुख का साधन भी साधन भी है या नहीं है स्वामी जी एक जीवात्मा दूसरे के लिए भी सुख का साधन हाँ वो भी और स्वयं भी अपने लिए दोनों ही क्षेत्रों में है दूसरा जीवात्मा दूसरे के लिए सुख का साधन है और जीवात्मा स्वयं अपने लिए सुख का साधन है प्रकृति सुख वाली और दुख वाली है अब क्या समझ में आया प्रकृति सुख वाली है और दुख वाली, भी और प्रकृति सुख का साधन भी है और दुख का साधन भी है क्यों साधक जी आ गया समझ में अब जो व्यक्ति ये नहीं समझ पाता ईश्वर सुख भी है और सुख का साधन भी है वो ईश्वर के साथ उचित व्यवहार नहीं करता जब ईश्वर के साथ उचित व्यवहार नहीं करता तो ईश्वर से मिलने वाला सुख और ईश्वर जो हमारे लिए सुख का साधन है इन दोनों से वंचित रह जाता है व्यक्ति दोहराइए क्या समझ में आया व्यक्ति ईश्वर से उचित व्यवहार नहीं करता है तो ईश्वर के सुख से वंचित रह जाता है और ईश्वर जो सुख का साधन है उससे भी वंचित रह जाता है ये परिणाम निकलता है अब कोई कितना ही कुछ वैज्ञानिक बन जाए और कुछ लेखक बन जाए और धन संपन्न बन जाए पर इन बातों को इस रूप में जो ईश्वर से संबद्ध बताई जो नहीं जानता और उसका उपयोग नहीं करता वो व्यक्ति संपूर्ण दुख से छूट नहीं सकता और विशुद्ध सुख को प्राप्त नहीं कर पाता कोई वैदिक वैज्ञानिक हो भौतिक वैज्ञानिक उसको छोड़ दो शेष भौतिक वैज्ञानिक इस बात को स्वीकार नहीं करते कि ईश्वर कोई सुखवान पदार्थ है नहीं करते इसलिए इनकी विद्या इतनी अधकचरी है इतनी खराब है कि जैसे जैसे उन्नत होते जाते हैं वैसे वैसे दुख अधिक बढ़ता जाता है और प्रगति विकास होता जाता है एक और हरास होता जाता है मानव निर्माण का चरित्र निर्माण का तो हरास होता जाता है और व्यक्ति सुख की अपेक्षा दुख को अधिक भोगता है अधिक दुख मिलता है व्यक्ति इस वर्तमान काल में आप देख सकते हैं इतना संपन्न है विश्व है तो भी व्यक्ति का जो सुख है शांति है उसमें जितना भी सुख है इतना दुख मिला हुआ रहता है इतना दुख अधिक होता है वो सुख भी दुख जैसा दिखाई देता जैसे घरों में सुविधाएं हैं उष्ण काल में वातानुकूल शीतकाल में वातानुकूल और उष्ण जल गर्म जल की व्यवस्था और सेवक भी हैं कारें भी हैं कोठियां भी हैं संपत्ति की कोई कमी नहीं है पर ये व्यक्ति 24 घंटे इस स्थिति में है मैं कब मारा जाऊंगा या कब मुझे अपहरण करके ले जाएंगे कब डाकू चोर आएंगे और मेरी कोई सुनेगा नहीं न्याय नाम की कोई चीज है नहीं अब वो डरता डरता कांपता कांपता दुखी रहता रहता ही सोता है उठता जागता है <laughs> समझ में नहीं आया आ गया समझ में आप प्रत्येक व्यक्ति को देख सकते हो ऐसी स्थिति है ये मूल में अज्ञान होने के कारण से मूल में व्यवस्थित जितना आवश्यक विज्ञान है विद्या है वो व्यक्ति को नहीं सिखाई जाती नहीं पढ़ाई जाती जैसे ईश्वर के विषय में जो ज्ञान होना चाहिए जो पढ़ाया जाना चाहिए बालक को फिर युवा को सबको वो नहीं सिखाया पढ़ाया जाता अब आपको सिखाते हैं पढ़ाते हैं आपको ऐसी स्थिति में ले जाने का प्रयास करते हैं तो आप ढीले रूप में असावधान रहते हुए थोड़ा परिश्रम थोड़ा त्याग ये आपके पास मिलता है तो उससे आप विशेष प्रगति करके और समाज में कोई परिवर्तन करेंगे ये आशा नहीं रख सकते आप देखेंगे समझेंगे महर्षि दयानंद सरस्वती जी जब उनको ये समझ में आ गया उसके शरीर को मृत्यु छोड़ेगी नहीं इससे कैसे बचा जाए तो लोगों ने कहा योगी लोगों से विद्या सीखो ये तो और स्वामी दयानंद सरस्वती जी कितने तीव्र गति से चलते थे कैसे लोगों के पास जाते थे कितनी भयंकर अवस्थाएं थी जिन पहाड़ों और जंगलों में से वो निकलते थे और निकलते गए कितना उफान था उनके जीवन में कितनी तीव्रता थी उनके जीवन में और फिर उनका दिमाग जहां अपने लिए काम करता था वहां पूरे संसार के लिए भी काम करता था अर्थात वो व्यक्ति जब ये सोचता है जैसे मुझे ये दुख सता रहा है मृत्यु का ऐसे सारे संसार को सता रहा है मैं गवेषणा करूं खोज करूं इसको हटाया जा सके और मैं ऐसा करके फिर संसार को भी छुड़वाऊं ये दिमाग काम करता रहता यदि किसी का दिमाग बुद्धि ऐसा कार्य करने लग जाए कि मैं केवल अपने आप को दुख से छुटा दूं स्वयं सुख को प्राप्त हो जाऊं संसार की बात ही नहीं सोचना मेरा वो कार्य ही नहीं है मेरे साथ उसका कोई संबंध नहीं है वो मेरे लिए आवश्यक कार्य नहीं है तो परिणाम ये निकलता है वह ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव को नहीं जानता संशय है हाँ जैसे व्यक्ति प्रारंभिक अवस्था में ईश्वर का पूर्ण ज्ञान अभी नहीं हुआ वैराग्य अभी प्राप्त नहीं हुआ और जब प्रचार में प्रवृत्त होता है तो कालांतर में उसे प्रतीत होता है कि ये सब कुछ यशेषणा का फैलाया हुआ जाल है मेरे द्वारा तो उस अवस्था में उसका वो सोचना भी सारा बाधक बन जाता है हम्म। कौन सा सोचना संसार के लिए सोचना कब वो तो आपने ये बतलाया वो संतुलन उसने खो दिया और संतुलन खोने का उद्देश्य मुक्ति प्राप्ति नहीं होता केवल ऐषणा होती है जो संतुलन बिगड़ता है कि उपकार में अधिक समय लगा देना और विद्या और योग में कम लगाना जैसे संतुलन बिगड़ता है और समाज में लग जाता है जैसे व्यक्ति वहां पर एक भूल होती है वो कहता करता है उपकार ठीक है एक स्थिति में औरों से अच्छा है यहां तक तो ठीक है पर उसका लक्ष्य तीन ऐसा बना हुआ रहता है और जो उसने अपने लिए करना था विद्या के क्षेत्र में अपने लिए करना था योग के क्षेत्र में अपने लिए करना था व्यवहार के धर्म के क्षेत्र में वो उसने छोड़ दिया ये स्थिति बनी कि मैं बन गया हूं जो बनना था और अब मुझे बनने की बात ही नहीं सोचनी है ये संतुलन ऐसे बिगड़ता कुछ समझ में आया और दूसरी ओर संतुलन बिगड़ता है स्वार्थ प्रधान व्यक्ति का जीवन हो जाता है और वो अपने लिए खूब पढ़ता है अपने लिए जो कुछ करता है एडी से चोटी तक का जोर लगाता है और वो स्वार्थ प्रधान होता है उसमें संतुलन बिगड़ता है दूसरे में संतुलन दोनों में बिगड़ता है यदि आपने कथा सुनी पढ़ी याद है तो ये नारद की कथा आती है उसमें अठारह विद्या गिनाई तो अठारह विद्या गिनाने पर वो व्यक्ति संतप्त है दुखी है कलेशों से पिसता है नारद पढ़ी होगी या याद होगी इससे सिद्ध हो गया कि उसने सोचने का ढंग गलत अपना लिया अर्थात मुख्य मूल में शुद्ध है ज्ञान व्यवहारिक ज्ञान नहीं है उसका वो जो दुखी है और उसका निष्काम कर्म उसके साथ नहीं जुड़ा हुआ है और फिर उपासना की रीति नीति उसने नहीं अपनाई है इसलिए नारद जैसा अठारह विद्या का विद्वान मान्य कोई भी वो दुखी है आप भी यदि ज्ञान कर्म उपासना में संतुलन और परोपकार और अपने व्यक्तिगत उन्नति में संतुलन नहीं रखेंगे तो आपकी भी दुर्गति हो जाएगी साधक जी आ गया समझ में ये जो संतुलन रखने की बात बताई स्वामी जी हाँ जैसे इन्होंने प्रश्न किया था कि प्रारंभिक अवस्था में जब उसकी ऊंची योग्यता हुई नहीं है परंतु कुछ ज्ञान विज्ञान तो है उस ज्ञान विज्ञान को देने के लिए वे दूसरों में समय लगाए या न लगाए नहीं न लगाए का प्रश्न नहीं है अगर लगाता है तो फिर वो लोग की तरफ झुकता है नहीं झुकना झुकना उसकी मूर्खता है वो एक मात्रा में लगाएगा और अपनी स्थिति को बनाता चलेगा ये संतुलन है अतिक्रमण करता है तो उसकी भूल है और उसमें बता लोकेशना पुट जुड़ जाता है वहां ईश्वर प्राप्ति नहीं रहती हाँ, तो उससे बचने के लिए प्रारंभ में अगर उस तरफ ना जाए तो कैसा रहे उस तरफ कैसे नहीं जाए कुछ तो करना पड़ेगा उस तरफ का मतलब एक सीमा बना लो एक परोपकार की सीमा है उस समय उसको कितना करना चाहिए जिसने अपनी उन्नति भी होती रहे और कुछ उपकार भी करता रहे वहां पर संतुलन का एक विभाग बना हुआ है प्रारंभिक अवस्था में समाज का उपकार एक मात्रा में करता है वो प्रारंभ विद्यार्थी उस समय अपने लिए अधिक समय लगाता है और दूसरों के लिए कम लगाता है ये संतुलन बना रहता है और यदि वो न लगाए या जितना चाहिए उतना कम लगाए ना तो बीमार खा जाएगा वो तो वर्तमान में तो स्वामी जी जो योग की तरफ कोई व्यक्ति आज खोजने से भी नहीं दिखाई दे रहा और उपदेशक और प्रचारक के लिए मंचों पर जगह ही नहीं मिलती उनको इसमें कारण यही है कि वो प्रारंभ में ही इसमें अधिक बल लगा देते हैं अधिक लगा दिया उस और उसमें येषणाएं उसके उद्देश्य बन गए उसमें बचा रह जाए तो नहीं बचा रहने का अर्थ बचा रहना यह है कि अपनी उन्नति करता हुआ निष्काम भावना से एक मात्रा में समाज के सेवा भी करते है समाज का मतलब चाहे वो आश्रम में है वो अध्यापन करता है कोई भी ऐसी सेवाएं हो वो एक मात्रा बनी रहेगी उसकी सीमित सीमित एक मात्रा रहेगी अपनी उन्नति भी हो एक बात और दूसरों के साथ भी उसका संबंध सेवा का बना रहे आ गया समझ में क्यों जी बोलो नहीं आया हो तो फिर पूछो एक विद्यार्थी है वो विद्यार्थी अपनी से नीचे वाली कक्षाओं को पढ़ाता है एक सेवा होगी उसकी वो विद्यार्थी अपने आश्रम के और काम होते हैं विविध कार्य होते हैं कोई भी कार्य ले लेता है एक मात्रा में वो उनको भी कर देता है वो अपने गुरुओं की सेवा का भाग भी अपने उसमें जोड़े रखता है किसी भी प्रकार की कोई भी सेवा जिससे वो कर सकता है और वो इतनी मात्रा में हो कि उसका अपना पढ़ना लिखना उसकी अपनी उपासना उसका अपना व्यायाम ये चलते रहे यहां पर स्वामी जी दो पक्ष बन गए एक तो ये है कि सेवा कार्य करना ये उपकार का काम है संसार के अंदर काम करता रहे अपना विकास करता रहे और सेवा कार्य शारीरिक और दूसरा तीसरा करता रहे और दूसरा पक्ष है समाज में जाकर के लोगों को सुधार में जुट जाना वो अलग विषय वो जाया जाए नहीं नहीं पठन पाठन को छोड़ करके समाज में सुधार के लिए चला जाना वो तो अनुचित है जब तक व्यक्ति की अच्छी योग्यता नहीं बनती हाँ। वो सुधारक के रूप में समाज में उसको नहीं उतरना चाहिए अन्य को कल्याण के लिए उस तरफ नहीं उतरना चाहिए परंतु मान के चलिए बीच बीच में कहीं उसको उपदेश देना पड़े कहीं जाना पड़े ये कार्य इतने बाधक नहीं है मात्रा उसकी सीमित करनी पड़ेगी और एक सुधारक के रूप में अवतरित होकर के अपना पठन पाठन छोड़ के फिर समाज में इस रूप में जाना हानिकारक है हाँ एक और स्थिति है एक व्यक्ति की रुचि ही नहीं है पढ़ने में आपने देखा होगा कुछ और वो कहता है मैं तो क्रांतिकारी बनूंगा कुछ समझ में आया कहता मेरा कोई रुचि नहीं है पढ़ने में विद्वान बनने में कोई मतलब नहीं मैं योगी बनने की बात ही नहीं सोचता मैं तो समाज में जो अन्याय है उसको उखाड़ूंगा उसका वही ठीक है समझ में आया आज तो ऐसे बादल आ रहे हैं जिनकी स्वभाव से बरसने की प्रकृति है क्या समझ में आया नहीं आया समझ में क्या समझ में आया स्वभाव से बरसने की बादल का स्वभाव तो समझ बरसने का ही है नहीं दान देने की स्वभाव से जिसमें बड़ी तीव्र इच्छा दान देने की और एक दान दे देता है जैसे तैसे करके पहले तो देना नहीं चाहता जब देना पड़ता है तो दे देता थोड़ा इनमें कितने में से बरसाई बहुत देर में होती है और वैसे ही चले जाते हैं भागते रहते ऐसे भी तो देखे आपने और एक का स्वभाव क्या बादल का वो जितना ही उभर के आया उतना ही बरसा शुरू कर देता है आया समझ में वो बहुत सी जगह पर ऐसी बात आया पहले भी वो तो दूसरे रूप में होगा उस बादल के रूप में नहीं होगा वो वायु के साथ होगा बादल के रूप में वैसा पहले नहीं होता ये मैंने थोड़ा सा बताया तो उसमें ये काट छाट इस रूप में करना बड़ा भारी विज्ञान है दोनों ही बातें हमारे सामने आती है एक और बात है जो हमें अपनी उन्नति करते हैं अपनी उन्नति विद्वान बनते हैं शरीर से बलवान बनते हैं योगी बनते हैं उसमें एक धारा रहती है वो रहती है मैं विद्वान बनकर के मैं बलवान बनकर के मैं योगी बनकर के ये सब कुछ संसार के उपकार में लगाऊंगा ये धारा रहती है और एक धारा मैं विद्वान बन करके बलवान बन के योगी बन के बहुत सम्मान को प्राप्त करूंगा धन संपत्ति मुझे मिलेगी आनंद से रहूंगा सारे साधन मुझे मिलेंगे लोग मेरा सम्मान करेंगे ये धारा दूसरी है समझ में आ गया बोलो ये जो धारा है कि मैं विद्वान बन के ये सारी विद्या दुनिया को पढ़ाऊंगा और मैं बलवान बन के औरों की रक्षा करूंगा मैं योगी बन के औरों को योगी बनाऊंगा इसलिए मैं सारी शक्ति लगाए हुए हूं एक स्थिति और दूसरी मैं वो जो बतलाई वो दूसरी धारा में ये रहती है मैं विद्वान बन जाऊंगा मैं बलवान बनूंगा मैं योगाभ्यास करूंगा और मुझे धन मिलेगा सम्मान मिलेगा सुख के साधन मिलेंगे दोनों स्थितियां व्यक्ति के सामने आती है अब ये व्यक्ति प्राय ये लौकिक जो विचारधारा है इसको अपना बैठता है अब क्या समझ में आया प्राय व्यक्ति लौकिक विचारधारा को अपना लेता लौकिक विचारधारा को अपना लेता है उसका मतलब है संक्षिप्त रूप में तीन ऐषणाओं को उद्देश्य बना के चलता है ये कह दो बहुत प्रिय लगती है आकर्षण बना रहता है व्यक्ति आप कितना ही जोर लगाएंगे कितना प्रयत्न करेंगे दिन भर सुख और सुख साधन की अभिलाषा मन में विद्यमान रहेगी आप बताओ क्या परीक्षण है आपका अपना अपना बताओ नहीं समझ में आया तो समझो रहती है स्वामी जी क्यों जी क्या समझ में आया दिन भर व्यक्ति के अंदर सुख और सुख साधनों की प्राप्ति की अभिलाषा बनी रहती है आप अध्ययन कर सकते हैं या नहीं रहती बस अध्ययन कर लो पता चल जाएगा कि यहाँ रहती है अब जब आप इसको रोकना चाहेंगे तब आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि मैं इसको इसलिए रोक रहा हूं इस धारा को ये मुझे समस्त दुखों की निवृत्ति और नित्यानंद की प्राप्ति पर नहीं जाने देगी ये विचारधारा तो आप रोकेंगे उसको नहीं तो नहीं रोकेंगे उसको चलने देंगे आप और जीवन भर चलती रहेगी स्वभाव तो बहने वाली धारा को जो मैंने बताई सुख और सुख साधन की प्राप्ति दुख और दुख साधनों का निराकरण दूरीकरण ये धारा स्वाभाविक जैसी दिखती है जैसे हमारा स्वाभाविक गुण हो